आठ सौ घाट की इतनी वृत्तियाँ हैं कि संतोष वैराग शांति इत्यादि की वृत्तियों को खा जाते हैं ये तो आहार क्रोध का आहार क्या है क्रोध का आहार शांति क्रोध आएगा शांति खा जाएगा देखो नहीं दिखाई देता कि क्या किसका क्या आहार हाँ? अब लेकिन शांति में इतनी ताकत आ जाएगी क्रोध को खा जाए महाराज ताकि तो भगवान की कृपा हो तब यह है कि उसमें इतनी शक्ति आ जाए कि क्रोधी को समाप्त करो बिना भगवान की कृपा के कहा इनको इतने सामर्थ्य नहीं होता ऐसे सभी जितने देवता हैं उतनी निशाचक उनके विरोधी निशाचक जितने हैं वो सब विरोधी वृत्तियां हैं एक और शांति होगी दूसरी तरफ क्रोध होगा एक तरफ क्षणा होगी तो दूसरी तरफ प्रेम होगा यहाँ ना करे प्रेम को तो खा जाए चटनी बना दिया नहीं प्रेम प्रेम नहीं ग्रहण ही ग्रहण परमात्मा की कृपा हुई प्रेम को तो बड़ी शक्ति आ गई उसने क्या किया कि ग्रहण को काट काट से फेंक दिया जमीन के अंदर काट दिया ऐसे करके युद्ध को देखो अपनों काट करिए और ये साक्षर वृत्तियाँ जितनी भी हैं भी वृत्तियाँ हैं इनके लिए भगवान का बल चाहिए गीत भजन सारथी सुजाना इसे देखा कि जब भगवान का स्मरण करो भजवन भगवान का उनका ध्यान करो स्मरण करो उनके बल का आवाहन करो तब अपने अंदर इस दैवी शक्तियाँ जागृत हो और फिर इन शास्त्रों का बध हो ये सब समाप्त हो नष्ट हो लेकर युद्ध इस प्रकार से युद्ध को भयंकर होने लगा अब देखो में कहते हैं कि कुर्दे कृतांत समान कृतांत मन यमराज ये यमराज के समान एकदम क्रोधित होकर के बानर लोग लड़ रहे कभी और तन श्रवण प्रसोनित राजनी अब इनके बानरों के शरीर में चोट लगी निशाचरों ने मारा शस्त्रों से आघात किया तो जगह जगह इनके शरीर में घाव हो गए और खून बह रहा है तो वैसे तो खून बहना और खून दिखाई देना ये दुख की बात लगे घरा की बात लगे कोई शोभनीय बात नहीं है लेकिन युद्ध क्षेत्र में कोई युद्ध करे और उसके खून ना आवे तो फिर कोई शोभा नहीं ये कौन सा युद्ध हुआ खून कर नहीं आया खरोचो नहीं लगे और कहीं हम बड़े लड़े बहुत लड़े तो दिखाओ कैसे लड़े कि खरोच नहीं लगे तो क्या करना अरे संग्राम उनमें की तो सुंदरता का देश की महिमा तब है जब दिखाई देगा खूब खून बह रहा है लेकिन व्यक्ति निरुत्साहित नहीं है हाँ फिर युद्ध करके मुक्ता हुआ तब पीड़ता है तब देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि इनके शरीर में सुरोने तो धन श्रवण सुरोने खून बह रहा है लेकिन राजा ही राजा में बड़े सुंदर लगते हैं खून बह समय समय की बात ये रसों में जैसे कि कुछ तो संचारी भाव होते हैं वे लोग जो रस जो है वो विशेष रस है उसको वो प्रदीप्त करते हैं दीप्त करते हैं सहायक उसमें होते हैं तो वही संचारी भाव एक जगह जो है वो हो किसी रस को प्रदीप्त करने वाला है शक्ति देने वाला है और दूसरी तरफ वही संचारी दूसरे रस में आ जाए तो रस को ठंडा कर दे संचारित न करे तरह से देखते हैं कि जहाँ पीर रस है वहाँ पर रक्त का प्राव जो है यह सुंदर लग रहा है और कहते हैं मर्द निशाचर कटक फट बलवंत खनज जिम गा गए और ये मर्द निशाचर कटक और ये निशाचर लोग हैं ये इनकी जो सेना है भट बलवंत खनज जिम गा गए और ये बानर लोग मेरी के समान गर्जना करते हैं और बड़े बड़े निशाचरों मिला देते हैं प्राप्त कर देते हैं मारक चपेटन दांत दातन काफी दातन मिल गई ये सब बानरों की वीरता है तो देखो अभी निशाचरों की वीरता नहीं आ रहा अब एक तरफ का वर्णन करते तब एक तरफ का दूसरी तरफ अभी निशाचर लोग हार रहे और बानर लोग जो है अपनी फल दिखा रहे कहते हैं मार्ग ये लोग मारते हैं मार्ग चपेटन चपेट मारते हैं कि मारे उनको थप्पड़ इत्यादि मार देते हैं घूसा मार देते हैं लातों से मार देते हैं और डांटते भी है बड़े ललकारते हैं उनको हाथ खड़े रहो हाथ उनका मारते हैं ऐसे करके बोलते रहते हैं और दांतन काट पकड़ लेते हैं तो दांत काट भी देते हैं और लातन में ही और दांतों से जहाँ जमीन में गिर पड़े तो पैर से उनको रगड़ देते हैं जमीन में मीन देते हैं सबको और जमीन में मिल जाते हैं सबने खा सब नष्ट हो जाते हैं चिक ही मरकट भाग और ये चिक्कारते भी हैं ये जो है बड़ी गर्जना करते हैं बड़े बड़े जोर से चिल्लाते हैं ये बानर लोग मरकट मन बानर ये मरकर बहुत जोर चिल्लाते हैं और भाग भी इसी प्रकार से और छलबल करें ये भी छलबल करते हैं और <clears throat> जय खल छी जही जिससे कि ये दस में खाकर क्षीण हो जाए देखें मेघनाथ का जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ भी छलबल कर रहा था तो हिसाब से उसके छलबल का वर्णन करते हैं और फिर ये कहते हैं कि देखो वो अनिल करता है अनिल से करता है ऐसे कह रहे हैं लेकिन यहाँ पाखंड लोग छलबल करते हैं तो ये अनित नहीं ये अनित करते हैं किस लिए करते हैं जिससे कि निशाचर छिल जाइए ये खल लोग जाइए ये किसी प्रकार से नष्ट हो इसलिए करते हैं यहाँ के छलबल और वहाँ के छलबल में अंतर है ये बानरों का छलबल चाहिए है बुद्धिबल है ये युक्तियाँ करते हैं किस प्रकार से युक्त करके इनको घेरा जाए कैसे इनको पकड़ा जाए कैसे इनको मारा जाए उसी के लिए छलबल करते हैं यहाँ पे धोखाधड़ी की बात नहीं आमने सामने जो रो रहा है में सूखा लगी वो तो मेघनाथ जो है तो आकाश छिप करके आक्रमण कर रहा दिखाई देता नहीं था सामने था नहीं और वहां से वो अपने पत्थर की वर्षा कर रहा है धूल की वर्षा कर रहा है अंगारों की वर्षा कर रहा है अब दिखाई देता नहीं तो ऐसा युद्ध तो जिसमें कि युद्ध करने वाला व्यक्ति छिपा रहे और प्रहार करे ये अनैतिक युद्ध था और आजकल तो ऐसे युद्ध होता है सामने सामने लड़ने की कोई बात है नहीं हम्म? खाई खंडक खोदो और छुप करके मारो प्राचीन हम्म। काल करके सब अनिल इनलीगल था युद्ध के नियमों के विरुद्ध बात थी आजकल सब युद्ध के अंतर्गत आ रही सब बात सब दोनों तरफ से इस प्रकार यहाँ पर जो देखते हैं कि बानर लोग ऐसे नहीं कि बानर लोग छुप जाए और छुप करके मारे ऐसा नहीं करते अब इनका खलबल क्या है कि जैसे कि किसी निशाचर ने इनको मारा तो ये घर से कूद करके हड़प हो गए छलांग लगा दी उनके जो अस्त्र शस्त्र आए उनको लगे नहीं ऐसे है सामने युद्ध कर रहे हैं छिप करके नहीं युद्ध कर रहे हैं इसलिए जो ये है ये कहते हैं कि ये खलबल करें और खल छी नहीं जिससे कि निशाचर जो हो संकेत इस बात का भी है कि अपने आध्यात्मिक साधना करते समय व्यक्ति को अगर निशाचरों से निशाचरी वृत्तियों से आसुरी वृत्तियों से विजय प्राप्त करनी है तो बुद्धि को लगाओ और समय समय पर अपनी इस बुद्धि को युक्ति तरीके से इनसे युद्ध करो जैसे कि इंद्रियों के विषय ये विषय है निष्ठों के ऊपर प्रहार करते हैं आगे चल करके देखेंगे तो निशाचरों का ये तरीका है ये विषय जो है वो निशास्त्रों की तरह से इंद्रियों के ऊपर प्रहार करते हैं तब तो उस समय एक तो ये है कि वो जो विषय है उनके सामने मोर्चा न उनको वो रहे तो भी उनसे विचलित न हो अपनी इंद्रियों को उनसे जागरूक मत होने दो बचाओ उनको और दूसरा तरीका ये है कि वहां से सामने से हट जाओ जब वो फिर विषय जो है वो जाए उनका प्रभाव न रह जाए दशा में आ जाओ तो ये छलबल भी करना पड़ता युक्तियां भी करनी पड़ती कैसे हम विषयों से कैसे हम आपकी पत्नियों से जो बात में हमारे ऊपर आक्रमण करती है उनसे कैसे बचा जाए अगर दूसरा व्यक्ति क्रोधित हो रहा है तब तो उस क्रोध से अपने आप को कैसे बचाओ क्या करो आपको युक्ति लगाओ युद्ध में जैसे व्यवहार बताया जाता भाई चुप चुप रहो भीतर हाँ? से चाहे जितना आपको उत्तर आ रहा हो वेग आ रहा हो और चाहो खरी खुदी सुनाने की सामर्थ्य नहीं हो तो भी ना बोलो चुप रहो सामने से जाओ हाँ? हाथ जोड़ लो कुछ हम्म? और युक्ति कर लो ये सब क्या है कुछ क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए छल बना क्या खड़ी गांड खा रहे हैं कहीं कहीं ये बानर लोग छात्रों में पा जाते हैं तो उनके मुंह में हाथ डाल करके फाड़ देते हैं गाड़ी फाड़ देते हैं उड़ भी जा रहे हैं कहीं कहीं उनके पेट चीर देते हैं पहले कैसे भी उनको फाड़ देंगे नाशन लगा करके और फिर उनकी आंखें निकल गए तो आंखें निकल गए तो क्या किया करें सावरण भी नहीं अब बड़े उससे युद्ध कर रहे हैं बड़े उससे तो उनकी आंखों को लेकर के मारा ऐसे अपने घरे में पहन और युद्ध कर रहे हैं भगवान रूप धारण करके इस प्रकार से मानो कि निशाचरों की आंख जो है वो अपने गले में लपेटना अपनी सीधे की माना धारण किया जैसे जीत गए निशाचर को मार डाला है इस प्रकार से जो है वो युद्ध कर रहे हैं प्रहलाद पद जन विविध जन धर समझ जन खेल अब ऐसा लगता है कि ये सब बानर लोग क्या है ये तो प्रहलाद पति प्रहलाद पथ के माने क्या प्रहलाद के पति नरसिंह भगवान माने ये सब बानर इस समय नरसिंह रूप धारण किए हुए नरसिंह रूप जैसे बड़ा भयंकर रूप धारण करके भगवान ने सारा कश्यप को मार दिया तो उसी प्रकार से ये सबके सब नरसिंह रूप धारण जैसा किए हुए युद्ध कर रहे हैं नरसिंह भगवान के पास भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था उसको मारा तो कैसे मारा हाँ स्मरण करो उन्हें नाखून से तो उसके हरा चक्र का पेट फाड़ दिया नरसिंह जब हरा चक्र को पकड़ा अपने टांगों को रखा जान पर रखा और पेट फाड़ दिया हमने कोई तीर तलवार न कहीं कुछ ऐसे ही जो ये पानर लोग भी इनके पास और कोई सब तो है ही नहीं बस नाखून है उनके किताब और उसी से लड़ रहे हैं कहीं तो इनको निशाचरों को उसी तरह से कहीं पेट फाड़ देते जैसे ऊपर कह दिया न पेट फाड़ दिया आधे निकाल दिए तो ये तो काम वैसे हुआ जैसे नरसिंह भगवान ने हरणा का चौक मारा वो हुआ तो प्रहलाद पद जन विविध तंधर समर अंगन खेल वहाँ तो नरसिंह भगवान ने एक शरीर धारण किया था और उसको हिरणाचक को मारा था यहाँ ने ताकत लोग हजारों लाखों का रूप धारण किए सब मारा रहे तो ऐसे लगते हैं सब नरसिंह लोग है उसी प्रकार ये भयंकर युद्ध का रूप और फिर तनुधर हमारे अंगन खेल ही उनका युद्ध क्या है खेल ही मन के बहुत शक्तिवान कोई व्यक्ति हो और दूसरे युद्ध करे तो युद्ध करेगा तो कोई घबराएगा थोड़े परेशान थोड़े होगा कोई समस्या उसके लिए थोड़ी है उसके लिए तो एक खेल है ऐसे ये बानर लोग बड़े शक्तिशाली है उनके सामने ताकत दुर्बल पड़ रहे हैं इसलिए बानरों को तो ये युद्ध खेल लग रहा है और धरु मारो का तो पछाड़ और गिरा तो मई भरे रही आप कहते हैं कि ये चिल्लाते हैं कि धर्म पकड़ो मारो काटो पटक दो घोर गिरा इस प्रकार की बड़ी भयंकर गर्जना करते हैं मई भरी रही आकाश में भी धन छा गई पृथ्वी ऊपर सब तरफ जहाँ कहीं देखो कोई कह रहा पकड़ो पकड़ो कोई कहता घाट पटक दो कहीं कहता कि उसको पेट फाड़ दो कहीं कहता सर तोड़ दो हम्म, ऐसे करके बस चिल्ला रहे हैं और चल रहा है जय राम जो से कुलिस कर कुलिस से कर तरण सही अपरो तो भगवान की जय जयकार बोलते हैं कहते हैं जय राम भगवान श्री राम जी की जय हो जो से कुलिस कर ये शंकर जी की बात है वे लोग तो अपने मारो मारो काटो काटो जैसे और शंकर जी की पार्वती कथा सुना रहे क्या कहते हैं देखा ये तो भगवान श्री राम जी की सब महिमा है उन्हीं का सब खेल है वही क्या करते हैं कि जो तरण से पुलिस कर है जो तिनके को वज्र बना दो और पुलिस से करकन सही और वज्र को गौतन का कर ये बानर भानु जितने जो थे इन छात्रों के कहा आहार थे और मैंने बिल्कुल तिनके के समान थे अब भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो तिनके क्या ये वज्र बन गए अब ये मानव भार उनके मारे नहीं मरते बल्कि ये सब इनको निशाचरों को खाए जा रहे हैं सबसे तो जबरदस्त दिए थे तो वही जो है भगवान जो है कभी दुर्बल को शक्तिशाली बना सकते हैं शक्तिशाली को दुर्बल बना सकते हैं इसलिए परमात्मा में विश्वास करते हैं और अपने हृदय में देखे यदि हमारे मन में शांति नहीं रह पाती संतोष नहीं रह पाता हाँ? क्रोध आकर के आक्रमण कर देता है कामना आकर के आक्रमण कर देते हैं हाँ? और हम पराजित हो जाते हैं तो इसके माने ये नहीं कि सदा पराजित ही बने रहे भगवान का स्मरण करो वे सब बड़ी शक्ति दे सकते हैं समाप्त हो जाएंगे ये नष्ट हो सकते हैं इसलिए इस प्रकार की शक्ति का भगवान की शक्ति का आह्वान करें उनके ऊपर भरोसा रखें और अपने अंदर हो रहे संग्राम में विजयी बने कहते हैं निज दल विचलित देखे की बीस भुजा सतचाप जब रावण ने देखा कि मानव लोग बड़े जयशील है और बड़े शक्तिशाली है और हमारी सेना तो भागी जा रही है कितने लोग मर गए हैं और कितने भाग रहे हैं शक्ति तब रावण ने जो है ज्यादा रावण को जोश आया युद्ध करने के लिए उसे भी और फिर उसने क्या किया अपने बीसों जाए उसने अपनी सभा मानस से बीस मान दस पाई तरफ है और दस पाई तरफ तो पाई तरफ उसने क्या किया दस चार पाए दसों हाथों में दर्द धनुष उठाए घुसा और दाहिने हाथ से एक एक बाढ़ देकर के एक एक धन गिरा तो दस धनुष और दस बाढ़ दस कर चले किसानन और फिर फिर करता सागोरस के ऊपर चढ़ा भाई चढ़ चढ़ को आगे बढ़ाया और उनको सबको ललकारा छात्रों को खिलौनों को देखो युद्ध हमारा अब हम युद्ध तो करते हैं तुमसे नहीं बनता है इन दोनों के विषय है इन दोनों विषयों का आक्रमण होता है और इंद्रिया उनसे फिर व्याकुल होती तो पहले तो यहीं से शुरू होता है संक्रांत का प्रारंभ कहाँ से होता है इंद्रियों के स्तर गीता में भी भगवान ने कहा तीसरे अध्याय अंत में देखो तो भगवान कहते हैं कि देखो ये सब निशाकर जो है ये इंद्रियों के लिए स्तर पर और ये मन के स्तर पर युद्ध करते हैं बुद्धि के लिए स्तर पर युद्ध करते हैं लेकिन ये जगह जगह इनका युद्ध होता है तो युद्ध करना कैसे चाहिए कि पहले इंद्रियों के स्तर पर ही युद्ध करना चाहिए युद्ध का प्रारंभ यही युद्ध होता है कि जब ये विषय रूपी निशाचर इंद्रियों को ऊपर आक्रमण करें इनको व्याकुल करें उस समय संयम रखो इंद्रिय संयम का यम नियम का उनका पालन करो और इंद्रियों को संयमित रखो और संयमित रख करके विषयों से इनको बचाओ अगर ये कर दिया इंद्रिया सुरक्षित बच गए और विषयों से दाखिल नहीं हुए तो फिर मन के साथ युद्ध कर लेना फिर बुद्धि के साथ युद्ध कर देना ये साधना का रहस्य है कहाँ से साधना प्रारंभ होती कैसे आगे बढ़ती यदि इंद्रियों के विषयों का निग्रह न करे और व्यक्ति चाहे कि अपने भीतर मन में पहुंच जाए बुद्धि में पहुंच जाए साक्षी पहुंच जाए आत्मा पहुंच जाए परमात्मा पहुंच जाए तो उसकी जो दुराशा मात्र है तो है पूरी उससे पहले इंद्रिय स्तर के ऊपर इस प्रकार से संक्रांत करना चाहिए तो वही प्रारंभ होता पहले राम जब वो बांस होता तो फिर बांस होता ऐसा उसने धनुष बाढ़ बना ले आगे देखते हैं उसका युद्ध छह रावण का युद्ध होता है रावण जब युद्ध करता है तब देखते हैं कि मानव भानु व्याकुल हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं और जब मानव भानु व्याकुल हो जाते हैं और हारने लगते हैं तब तब लक्ष्मण जी आते हैं राम का नंबर तो बात रहा है कैसे आती है इनके पहले बच्चों ने जरा अपना संभाल तो क्रम क्रम से युद्ध चलता उसका सबका ये सब जितना वर्णन है वो भौतिक युद्ध की अपेक्षा आध्यात्मिक ही ज्यादा उसी अर्थ में आप देखें तो सब सार्थकता लगेगी और भौतिक दृष्टि देखेंगे तो आपको कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा तो आगे का युद्ध कर नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय समदीये सत्य